आपके पास थोड़ी परेशानी में कम भी कर देंगे अगले जन के पास ट्रांसफर कर देंगे ऐसे ऐसे तो कर लेते हैं लेकिन राज्य का बात क्या नहीं चलेगा तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि यथाभूत कर्म फल साधन तो उनकी जैसा जैसा कर्म किया था तब फलभोग का साधन रूप फलभोग के साधन के अनुरूप अर्थान उन्हें मतलब कर्तव्य पदार्थान हाँ। अपना अपना कर्तव्य पदार्थम को धर्माधिपदों को यथा विधवान यथानुरूपम यथशक्ति जिसकी जिसकी जैसे जैसे अनुरूप है उनके अपने अनुरूप उनको उचित दिया है शाश्वती नित्याद्य समाध्य मैंने समस्या प्रजापति संवत्सर वही प्रजापति ऐसा उपनिषद में आया हुआ है संवत्सर उसके पर्व है संवत नाम दिया सालीन काल गयतिनेम संवत नाम को प्रजापति और प्रजापति आई प्रजापतिभ्या अगले मंत्र की अवतरणी का अत्र आद्यम मंत्रेण सर्वेश्वरा परित्याग ज्ञान निष्ठा उक्ता प्रथम वेदार्थ प्रथम वेदार्थ प्रथम मंत्र का देखिए मंत्र प्रथम मंत्र का ईशावास मंत्र का यह ईशावास सर्व मार्ग सिद्धम आत्मेन निकला उनको ऐसी उपासना करने का फल तो का फल वह उपासना का फल तो बताया सप्तान सप्तम क्या है एक साधारण मन्नम यही हम अद्भुत जो हम लोग खाते रोटी चावल दाल भात ये सारी चीजें के क्या पहला अन्न दूसरा अन्न क्या है देवताओं के खुद और खुद नाम के दो अन्न दुर्गा जी जो उनके हवन में इस्तेमाल होता है ये मेरा प्रसिद्ध तो है और कभी तो विशिष्ट है प्रयासादी तो दोनों उनका अनुच्छेद और तीन भोग्य साधन ये मन वाणी और काम सभी के सभी के विद्यमान ये तीन के लिए अंक कहा मन वाणी और काम ये तीनों चीज अंग है एक समय हो गया जो विचार आगे दूसरा हित पहुंचना जो दो तीन तीन और तीन छह और एक अंत सातवा है पशुवायु सर्वत्र जो भाग आदि है तो तो सब अंत है है एकम साधारण मंदिर मध्य है द्वे देवान उत प्रभु के दर्शक प्रणवास होगा त्रिलक्ष्य भूलचारण मनोवाक्ता लक्षणानी लक्षणानी होगी लक्षणानी पशुओं का वेतन तक पड़ेगी सप्तान सर्वो दर्श दर्शन किया फिर तन्नारी मिलिया तब सगले इत्यादि का स्थान दे दिया है और स्थान से आत्मभाव है ना उनका ही आत्मभाव से आत्मस्वरूप व्यवस्थित होना ही इसका वास्तविक फल है जयादि लेशनात्र संन्यास अब यह हो गया समझा खत्म यहाँ से तक कर्म निष्ठा उत्तर दिया आत्मसंतोष स्थान प्रेम जायादि की योजना को त्याग पूर्वक आत्मविराम कर्मनिष्ठा लिए ज्ञाप होता है यह जैन योजना त्रय का संन्यास त्रय त्रय योजना त्रय संन्यास होना आत्मविदान कर्मनिष्ठा प्राधिपूर्ण होना आत्मविताओं के लिए कर्मनिष्ठा प्रतिकूल होने के कारण है आत्मसर्वनिष्ठा केवल दर्शिता आत्म निष्ठा मात्र दर्शा जाए प्रजाजक में किन प्रजा करिष्यामो हो ब्रह्मात्मा अयम लोग अरे मैं उस प्रजा संतान आदि से क्या करूंगा जिनका कोई न लोक है न कोई चीज होता है ऐसा शाम आत्मा जिनका ये आत्मा नहीं होता और जिनका लोक आदि इत्यादि के द्वारा इत्यादि ना लोग शुरू ही प्रगर सुख के साथ व्यवधान इत्यादि ना उदय निष्ठा प्रदर्शित पूर्व समय हमारे हो जाए इत्यादि ना भी बताया हुआ है हमारे पुस्तक अनुसार चौतीस पृष्ठ में आप दुर्गन्य के अति प्रदर्शित है स्वकाल के विश्व की भाषिका ध्यान देकर पूर्वान रहे कोई क्रिया पर ही इत्यादि ना आगे इंसान तो अन्य पूछे उसके अनुमा भगवान ने कह दी कर्म और ज्ञान निष्ठा जो यह दो मंत्रों में वर्णन किया गया है इसमें विस्तृत हो गया भगवान नदी में दिखा दिया गया है ये ज्ञान निष्ठा संन्यासना असुरिया नाम इत्यादि ना अविद्युन निंदा द्वारा आत्मव्यापात्यम स्वप्रत्येक बनते रूप निष्ठम यही अप्रधिग्रता न कामना इसलिए ये जो ज्ञान निष्ठा सन्यासी जो ज्ञान निष्ठा वाले सन्यासी हैं उन्हीं उनके लिए जो है असली नाम के निंदा द्वारा आत्मा ही लाथार्थ स्वरूप जो स्वर प्रयोगाद इत्यादि मंत्रों में कभी तो उन मंत्रों के उपयुक्त में तो निष्ठा होना चाहिए और वे ही यहाँ पर अधिकृत है काम नहीं है ये बात स्पष्ट कर दिया गया क्या प्रमाण है तथा श्रोता श्रोतराणाम मंत्रों परिषद श्वेता सूत्र मंत्रोपनिषद श्वेता परिषद वाण स्पष्ट ही है अत्याश्वेद्य परम परिपूर्ण अत्याश विद्या परम पवित्रम संग विशेषंग दुष्टम पूर्वाचार अत्याशयों के लिए जो परम पवित्र सम्यक प्रकार से ऋषम के विशेषण के द्वारा संयुक्त जो आत्मज्ञान का कथन किया गया है इत्यादि के द्वारा विभाग पर वहां पर भी तो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा कर सकते कर्मण कर्मनिष्ठा कर्म कुरंत जो कर्मियों के अंदर कर्म की निष्ठा है और कर्म को करते हुए तो जीवन उठते और कर्म करते हुए ही जीना चाह रहे हैं मंत्र आरंभ हो रहा है उनको ये कहना है अरे भाई तुम कर्म करोगे तो करो और संसार जियो कोई आपत्ति नहीं है उचित नहीं है तुम कर्म और उपासना दोनों को मिला के करना चाहिए केवल कर्म करेगा तो उसके लिए उसका उद्धार नहीं होगा स्वर्गारी जरूर मिलेंगे फिर चक्कर काटते रहेगा केवल उपासना करेगा वो भी दोनों का ही प्राप्त करेगा वो भी चक्कर काट के लग जाएगा कर्म ऋषि की उपासना करता है जो निश्चित रूप से वहां उत्तरायण मार्ग का विकल्प करके उसका भी कल्याण अवश्य होगा प्रतिपादन प्रतिपादन करके कर्मियों को समझाने की चेष्टा किया जा रहा है तुम्हारा भी कल्याण की वृद्धि है ये मत सोचना कि तुम्हारा कल्याण हो जाएंगे तो सन्यासियों को ही मोक्ष का ठेका है ऐसी बात नहीं हम कर्मियों से भी मोक्ष में सकता है लेकिन एक वाणी है सन्यासी को सदैव मुक्ति मिल सकती है तुम उपासना से कर्म करोगे तो वो क्रम मुक्ति मिलेगी मुक्ति का दोनों अधिकारी इस तथ्य समझाने के लिए वहां से निकालन होता है उपास जो देव अविद्या अर्थात केवल अग्निहोत्रादि कर्मों को अविद्या केवल कर्म विद्या रहित है उपासना विद्या में अविद्या उपासना रहित केवल कर्मों को उपाध से अनुष्ठान करता है वे अज्ञानी लोग जो है अंधवी प्रवेश अज्ञान नीति वो अंधकार को प्रवेश करती है अब हमारे अज्ञान अज्ञान रूपी जो घोर अंधकार है इस लोग प्रवेश की रहती है ऐसा उनकी मुक्ति का रास्ता है नहीं उनको मुक्ति का रास्ता नहीं मिलेगा उनसे भी खराब है को केवल कृष्ण उपासना करने वाले ये विद्या और जो लोग केवल विद्या में देवताओं की उपासना मात्र में लगे हुए हैं अपना वर्णाश्रमानुसार प्राप्त कर्मों का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं केवल देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं उन लोगों की क्या दुर्दशा होती है तो, तो तमो जो वो कर्मी केवल कर्मी जिस प्रकार के अज्ञान आत्मक अंधकार में प्रवेश करता है उस दूरी अधिक तक घोर अंधेरे में तो घुस जाएगा इसलिए केवल कर ही जाना मान लो सौ दो सौ पांच सौ छह सौ हजार साल तक स्वर्गारी कर लौट आएगा कहीं देव उपासना करने वाला कहीं प्रकृति को प्राप्त तो लोग को प्राप्त होता है और तक कम मरेगा तब वहां से वापस आना पड़ेगा उतना समय तो वहां पर आ रहे हैं वहां ना विद्या होनी कुछ नहीं जो प्रकृति नहीं वाले हैं और प्रकृति में प्रकृति नजर पड़ेगी जब तक प्रक्रिया तब तक ऐसी उपासना की काम यहाँ मृत्यु होने की गुंजाइश मिली और जल्दी से हम लोग भूल हो गया चले ही गए फिर लौट के पाना तो चाहिए जो कहा था ना झोला झोला घर पर लौट गया गया तो पढ़ाया नहीं होता शाम को लौट आएंगे तो पलाया नहीं देखा तो देखा ही चल ठीक है नाराज हो गया लड़ाई झगड़ा हो गई भूल चूक हो गया गलत मत रखा हो जाएगी हाँ और आपकी जो है दंड की कर्म जो श्राद्ध होता है वो तो करना के पार कर्म संस्कार करना है तो देवी चौधरी का टका दे रखे निकालना नहीं जल्दी और रखे हो तो बाकर संस्कार करो श्रावण तुलना में करना चाहिए हम देखते कितने हजार ब्राह्मण ऋषि के इसमें इनको मेरी घाट मुझे तो पांच बजे से अब भंडार के बड़ा ब्राह्मणों को भंडार आएगा ना बच्चे उधर <laughs> आ उनकी थोड़ी आप अगर नहीं कर रहे हैं और केवल देवता जी भक्ति करोगे नतीजा क्या होगा कर्मी से आप कर्मी को जल्दी से जल्दी फल से लौट भी जाएगा और आप उन देवता आदि के शरीर को प्राप्त कर जाएंगे उन देवादी लोगों को ऐसे प्राप्त कर जाएंगे जहाँ से आप जल्दी लौट ही नहीं सकते इसलिए मैं आप ये उत्तर भाषण में देखे हुए महाभारत में देखे हुए और पुराण में लिखे हैं लिखा है किस उपासना करने वाला कौन सी देवलोक को जाएगा गंगर लोग को जाएगा पर लोग को जाएगा कौन कहा जाएगा और कितने हजार मनोंतर दस मनोंतर शुरू किया दस सौ हजार दस हजार एक लाख दस लाख एक करोड़ दस दस करोड़ एक अरब मनमंत्रों तक चला रहा है ऐसे ऐसी जीवित करके उसके बाद मान लो लौटे तब ब्रह्म ज्ञान का दोबारा छान भविष्य में प्राप्ति हो जाती है अभिप्राय होने के बाद इसलिए केवल कर्म के अपेक्षा से केवल उपासना करना और ज्यादा नुकसानदायक है इसलिए कर्मी को समझाया जा रहा है और उपासक को भी समझाया जा रहा है तुम केवल कर्म भी निष्ठा मत करो केवल कर्म निष्ठा करोगे तो इतने ब्रह्म विद्या का शासन नहीं बनेगा और केवल उपासना करोगे तो भी नहीं बनेगा लेकिन दोनों में से भी केवल भी कुछ अच्छा लेकिन रुचि भी क्या है अच्छा तो है लेकिन रुचि भी क्या है तब कहेंगे उपासना निश्चित कर्म करो उपासना करो और कर्म भी करो अर्थात दो अलग चीज नहीं क्या नहीं कर्म में ही उपासना हुआ करती है अलग नहीं कर्म में ही उपासना हुआ करती है जैसे तब बार बताया था आप कर्म कर रहे हैं पैसा करके सुन रहे हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं खा रहे हैं चाय पानी कर रहे हैं कुछ भी है इन सकल कर्मों में भी लौकिक कर्म सबके साथ लौकिक कर्मों में भी वो बाधा करते अर्पण बुद्धि ईश्वर अर्पण बुद्धि से आमता ममता परीक्षा आप लोग खा रहे की गई ये मान करके मैं नहीं खाता हूँ पंचायत को तो मैं खिला रहा हूँ भावना करके उपासना क्या है मानसिक भावना कर्म क्या है शारीरिक क्रिया है शारीरिक क्रियाएं जब हो रही है उसमें अपने मन की भावना आप क्या करोगे उसके अनुसार उस कर्म का फल प्राप्त होता है प्रसन्न उपासना विशेष कर्म होना सोचिए हम यज्ञ में बैठेंगे तब या देवता का ध्यान करने का नाम उपासना विशेष करेंगे ऐसा नहीं आज की दिनचर्या में प्रत्येक क्रियाक्रम कलाप जो हो रहा है इन सभी को भी उपासना विशिष्ट किसी बात का संधान देखा जाएगा महाराज मानना चाहिए पहला मंत्र जब ज्ञान है तो अंतिम धारा उसी की चर्चा है बीच में क्यों जो प्रसार है इसलिए निर्णय आदित्य इसके साधन पर लिया अकाव्यों के लिए ज्ञान है अकाव्यों के लिए कर्म है अकाव्यों का विचार दूसरे तीसरे से लेकर के आत्मे तक हुआ और नवे से आरभ हो रहा है कामियों का टुकड़ा ये आपको कैसे निश्चित हो गया पूछ रहा लिए प्रथम को लोगों अवगम मिले कि हम कैसे आपको ज्ञान हो गया कि ये जो प्रकरण है सर्वेशा कार्य अकार्य सभी के लिए नहीं है कुछ चुपते हैं कुछ जवाब देते हैं तो कथम तो लोग अवगते नर्वेशांति अकामी रहा सारे सारे भेदों मर देना यस्मिन सर्वाणी भूतानी आपे रहो ज्ञान कहो सत्य कहो शोक कर्तव्य पश्चित ये आत्मगत ज्ञानम कंचित कर्मणा ज्ञानम देना ही अमूढ़ संस्कृति ये जो है जो अकामी है ये साध्य साधन भेड़ का ही उपमर्दन कर दिया है साध्य साधन भेड़ का उपमर्द देना अकामी जो होता है वो तो क्या करता है उसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया ना हाँ, पहले तो सर्वेश्वर आत्मा नहीं था तो सर्वेशा आत्मा देखा फिर सर्वमेव आत्मा करके अनुभव कर लिया का विवाह करने सब बढ़ेगा इत्यादि विचार में शुद्ध रूप को विचार लिया अब उस व्यक्ति के लिए साध्य साधन भी रहा था साधन साधन भी खत्म नौ के किंचित साध्य है नौ साध्य पर उसके कोई साधन ही है इसे समर्पित हो जाने के कारण नष्ट हो गया उसके लिए साध्य साधन भी अतएव तो उस व्यक्ति के प्रति ये जो आपके एकत्रित ज्ञान का कथन हुआ है इसमें सर्वानुक्त नियंत्रण से वह आत्मिक विज्ञान को कोई अमूल व्यक्ति न हो तो मूल हो तो कोई बात नहीं मूल होगा तो जरूर ज्ञान और कर्म में उपासना और कर्म का ज्ञान के साथ में समुचित करने की चेष्टा कर लेता है लेकिन जो मूल नहीं है अमूलातम कथम समुचित क्षति समुच्चय नहीं कर करने की इच्छा कैसे कर सकता है और समुच्चय करने की इच्छा कभी करेगा नहीं है इसका किसके साथ कभी परिलक्षित करना ज्ञानांतरेणवा इस आत्मिक ज्ञान को इस अन्य कर्म के साथ या ज्ञानांतर से उपासना समझते तो ज्ञान से उपासना करते उपासनांतर के साथ में अमूलासन हम हम्म, समुचित क्षति न समुचित क्षति अमोड़ा न प्याले कन्ना दिना न तुम्हारे अमोड़ा सन न सूचिया तो मैं चित करी समुची सकेगा लेकिन मूड है फिर तो जरूर भले समुच्चय करेगा जैसे भास्कर आदि ने किया इसकी जो उपनिषद के भास्कर व्याख्या है उन्होंने ऐसे कर दिया है ज्ञान का समुच्चय वाद कर दिया उसी के अनुक्रम बोलना पड़ रहा है भाष्यकार तो बोलते ही नहीं है यहाँ का मंत्रों को समुच्चय पर कर दिया का कर्म का ब्रह्म ज्ञान के साथ उपासना का ब्रह्म ज्ञान के साथ करना चाहते हैं समुच्चय जो तो जिन मंत्रों का लक्ष्य है उपासना और कर्म का समुच्चय में क्योंकि उपासना ब्रह्म ज्ञान कर्म और ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय नहीं है भास्कर जी जो है उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की सब समुच्चय इसमें संचय कर दिया फिर अमूल ही होगा जो इस तरह का समुच्चय करने की इच्छा करेगा क्योंकि यहाँ साथ ही सरल भेद ही नहीं रह गया उतनिश्चय करके करेगा जब जब हम ही नहीं रह गए जो अकर्माधिकारी कर्म और ज्ञान को कैसे इकट्ठा करेंगे इसलिए कहते कि देखो कहते यश ये समुच्छेद संभव होती ज्ञानतः शास्त्र तो इसलिए हम यहाँ पर उस चीज का हम भी समुच्चय कहा रहे हैं एवं हम इसका किसके साथ कहना चाह रहे वो तो समझो यश ये समुच्चय संभवती दो का आधार है न्यायता ही और शास्त्र शास्त्र युक्ति और शास्त्र दो आधार पर जिस वस्तु का जिस वस्तु के साथ में समुच्चय हो सकता है वो हम यहाँ कहेंगे तब यह उसको कर्माधिकारी और ज्ञानाधिकारी परस्पर अत्यंत विरुद्ध है ये बात हम पहले ही कह चुके यही बात संबंध राशि में बोल चुके हैं प्रतिबिंब हिमघट है चलकर हिमालय पर मिल नहीं सकती मैं हिमालय हिमाचल से प्रेम कर सकता आवर्त गौरव था तथा अभी ये मदद कह चुके हैं पहले इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ ब्रह्म ज्ञान का उपासना के साथ में समुचय क्या संभव है उपासना का कर्म के साथ संबंध करना संभव है इसे प्रमाण है इसे शांत में आप देखते हैं उशक्ति चाक्रायण उशक्ति चाक्रायण करते हैं और उसी का काम होता है उन्होंने क्या किया जितना कर्म कर्मकांड हो रहा था जिस गाँव में वो थे वहाँ अकाल पड़ गया था तो भटक रहे थे अंधारा का उनके अभाव में जो जानकारी ले रहे थे कहीं कोई लड़के दे रहा हो हमारे गुरुद्वारा पहुंचेंगे जब हमारा सलमान और दक्षिण मिलेगी कल्याण गरीब शिक्षा मेरा बढ़ गया प्रिय लोग बेचारे दुखी होकर भी भटक रहे थे और जो आगे मुझे करना चाहते तो उनकी गाँव भेजा भी आदमी को भाई बड़ा इंसान तो लाओ लेकिन क्या करें ये बात है नहीं कि अकाल पड़ गया तो चलेगा कितने इसलिए वो अज्ञानी जो साधारण वित्त जो मंत्रों करते हुए आज के जिसे पंडित इन लोगों को लेकर ये आरम्भ कर दिया था तो इनको बता सकते हैं ये वहां पहुंचे जब वहां पहुंचते हैं तो कर्मकांड चल रहे ये जो हो रहा था अरे वर्ण भी देखो अरे का वर्ण कौन करे इसलिए करे अंध पहचानेगा कौन तो गए तो उन्होंने क्या किया प्रतिपत्ता के लिए पास करे अरे तुम जानते हो जिस लोग देवता का तुम मंत्र बोल रहे हो उस देवता को तुम जानते हो उसका ध्यान करोगे कि नहीं करोगे करेंगे तुम तो जानते तुम्हारा प्रति कठिन देते हैं ऐसे करोगे रहते हुए अज्ञान भी तुम कर्म करोगे तुम्हारा जो कुछ जो नाम यज्ञ गंगा का जो पाठ गया जाएंगे का कार्य यही वो है उसे कुछ हाथ के कहा कि महाराज आप तो निवरण कर लेंगे यही बनेंगे अब कहीं तुम तो किसी को कैंसिल कर दो तो हो गया चिंता वो करो इतना जो सबको दक्षिणा दोगे उतना हमको दोगे <laughs> और हम इनको पढ़ा देंगे अगर हम उनको विद्या जितनी हो जो उपासना है वह उनको दे उसके साथ ही करेंगे ना तुम्हारे पूर्ण फल प्रदान करेगा हाँ। स्पष्ट ही है बिना उपासना करी केवल करूंगा और बिना करूंगा ही केवल उपासना हो सकती हम दोनों में समुच्चय करने पर पूर्ण फल प्रदातृत्व का वर्णन इसलिए शास्त्र प्रमाण है कर्म और उपासना का सूचन लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साथ समुच्चय करने में कहीं ना कहीं शास्त्र प्रमाण है न युक्ति से सिद्ध हो सकता है पर अपने गुरु अधिकारी है वो कैसे करेगा की कैसे करें कोई सन्यासी परम व्रत थे अब कोई दूसरा आदमी आया बड़ा मित्रता हुई ठीक है सत्संग हो रहा है तब तक भी ठीक है फिर कहने लग गया महाराज हमको हमें आप बहुत अच्छा लगे इसलिए हम चाहते हैं आपको जब हमें आपको कन्या दे दी समस्या खड़ी हो जाएगी जब अगला तो है परम व्रत वो काम ही नहीं उनको जाए हमेशा हमेशा की काम ही नहीं है वो अधिकारी नहीं है उस चीज की गृहस्थी का अधिकारी नहीं है वो और आप गृहस्थी के अधिकारी जो आदमी है गलत आप दो अधिकारी अलग अलग विषय के उन दोनों के तालमेल कैसे बैठेगा ये लोक में ही प्रसिद्ध जातंत्र की कल्पना या तो कन्या बैगर में घर चलाए तो उधर आए गृहस्थी बन जाए तो बाहर चला जाए यदि विवेक तो मेरा जो संपन्न है और ज्ञानाधिकारी है मुख्य वास्तव में साइंस से संपन्न है वो व्यक्ति कभी रोग तो स्वाभाविक रूप से आप देख लो लोग देखने मिलता है इस तरह से कि जो अधिकारी है वो कर्म और गृहस्थी में जाएंगे जो ये अधिकारी है वो कभी उसको सोच ही नहीं आजकल ये कई मिशन में रहने वाले जो महात्मा होते मिशन वाले महात्मा हो इन लोगों को तो बड़ा डर लगता है बाहर हम जाएंगे तो रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने कैसे होगा हमारे वहां क्या होगी नहीं हमने लिखा प्रकाश के लिए है कल्याण मिशन के लिए महात्मा कई ऐसी कई बार बातचीत होती करते हाँ कैसे रहते कैसे चले जाते होना चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए वेलकम करने वाला होना चाहिए माला खड़ी चाहिए गाड़ी होनी चाहिए वहाँ भोजन बने रेडी मिलना चाहिए सारी व्यवस्था होनी तो आप ऐसे चले जाते हैं कहीं रास्ते में ट्रेन में भोजन देगा कैसे होगा पैसा है कुछ हो भगवान है भाई क्योंकि होगा हमारे मिशन में होता सभी पहले से व्यवस्थित हो जाता समस्या इन लोगों का स्वागत इनको इतना हमने इनसिक्योरिटी हो जाती क्यों कारण है कि वो अभी उस तरह के मनुष्य की योजना आए ही मुझे गुस्सा लेकर के जीवन चलाए नहीं होते काम कर भी सकते आदि दीक्षा मांग लेते वहां चलो मेरे साथ दरबार की बात में रहते चिदम्बराम की दरबार मुझे बोलना मेरे को चलना मुझे को दिखाया हो गए गांव ले लिया चलता है नहीं कहा खड़ा कर दिया घर के सामने तो मैं बगल में हूँ तुम बोलो तो सही तरफ साथ रोटी आएगी देख बोलो शर्म आती बात है इसलिए जो कर्माधिकारी है वो कभी इस तरह का वैराग्य और साध्य साधन के निमर्जन कर ही नहीं वो तो साध्य साधन के अधीन चलते हैं और जो ज्ञानाधिकारी है वो साध्य साधन रहते ईश्वर आलमस्त इतना जो साधन कुछ नहीं समझ इसी दोनों का समुच्चय न्याय का शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ और ब्रह्म ज्ञान उपासना के साथ असंभव है हमने देखो अवान्तर से विद्या कर्म समुचय आरम्भ क्योंकि जो तो है अवान्तर फल में कथम जो है ना इसलिए उनका समुचय हो सकता है अवान्तर फल दो दोनों का अलग फल जहां पर आ गया तो उनका समुचय करना ये फल ना हो तो एक में भी किसी एक में फल न होता तो जो फल नहीं द्वारा रहे उसको मैं कह रहे हैं फल वाले का अन्न हो जाएगा यही कह रहे हैं अन्यथा फलवद अवरत हो संहित जो हो अंगांग फलवान का और फलवान के साथ में समिति तो फलवान का और फलवान के साथ समिति का होता है और परस्पर अंगांग भाव की सिद्धि होती है पहले यहाँ ऐसा नहीं ऐसे अन्यथा कर दिया पहले ऐसा नहीं होता तो अंगांग भाव हो जाता दोनों में प्रति फल फलश्रवण होने के नाते इन दोनों समुच्चय ही उचित है इसको और स्पष्ट करने के लिए अगला मंत्र आता है अन्य देव आहुर्विद्या अन्य विद्या शिश्र धीराणाम विद्या अन्य देवा हो विद्या मैंने देवोपासना से अन्य देव फलम देवलोकारिकम अन्य देव फलम बाहु ऐसे कहा करते थे हमारे आचार्य लोग अन्य बाहुर विद्या और अनित्य मैंने केवल कर्म अग्निहोत्रादि इनसे जो फल होगा वो अन्य ही है अर्थात पितृलोक आदि है समझो ऐसा हमने जो है दीदा नाम ऐसा जो है बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा हमने सुना है ये मैंने जिन्होंने ना मैंने हमारे प्रति तक इस फल भेद को ज्ञान और कर्म के फल भेद को विचचक्षे व्याख्या की थी अन्य पृथ्वीव भाषिकार करते स्पष्ट अन्य मने पृथ्वीव विद्या क्रियते फलम विद्या के द्वारा जो फल मिलता है वो अलग ही हुआ करता है ऐसे इति आहु मन वदंती प्रमाण क्या है विद्या देवलोक मंत्र है विद्या देवलोक विद्या तदारभवती और इस उपासना के द्वारा हिरण्य पद को लोगों ने प्राप्त कर लिया इत्यादि शक्तियों प्रमाण है अन्य बाहुर अविद्या और अविद्या से अन्य देवा हो मैंने अविद्या में कर्मणा क्रियते कर्मणा पितृलोक प्रमाण कर्म के द्वारा प्राप्त फल में पृथक विवाह करता है अलग ही है गौ उपासना से मिलने तो वाला है वो नहीं है उससे अलग है शुश्रमा श्रुतवंतो वीराणाम धीमदाम वचन ऐसे हम बुद्धिमानों के वचनों को सुना है कैसे सुन लिया आपने करिए आचार्य वो धीमान कौन है वही करिए आचार्य आत्मा मैंने अस्मभ्यम ब्रवी मैंने कर्म च ज्ञानम व्याख्यात कर्म और ज्ञान उनका स्वरूप उनका लक्षण उनका विविधान और उनका फल पर यह संपूर्ण व्याख्यान जो की साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा कोई भी कर्म आकांक्षा हुआ करती है कोई भी आप कर्म लीजिए कोई भी आप उपासना लीजिए सीधा ही आएगा ये साधारण स्त्रोत्र को भी देख लो ना उस अंत में लिखा होता है इससे आप आपको ये समझिए ना उसका फिर कैसे होता हम लोग ये कोई भी कर्म चाहे बाह्य कर्म रूपा कर्मकांड हो चाहे मानस कर्म हो क्रिया रूपा उपासना को हो यहाँ पर आपको पहले साध्य बताना पड़ेगा इससे क्या होगा फिर उसका ये साधन है ठीक है पहले साधन का मनुष्य भूल जाने के लिए स्तोत्र पाठ करके करते रहते तो लेकिन उनका आज कुछ पता ही नहीं इस स्तोत्र का ऋषि कौन है इस स्तोत्र का छंद क्या है इस स्तोत्र का विनियोग क्या है इस स्तोत्र का ध्यान क्या है कुछ पता नहीं एक स्तोत्र पाठ कर जाए क्या हो हवा में फिर चला कोई फायदा थोड़ी ठीक है संस्कृत पाठ करने से बिल्कुल ही संस्कृत पढ़ रहे हैं हाँ, तो लाभ जो करते हैं इसलिए कहते कि देखो कि जिन्होंने व्याख्यान किया तेषाम अयम आगम उनकी ये जो है आगम है सूरी है प्रमाण है क्योंकि तो उन्होंने कहा है क्या सत्यमी तो पारंपरियागत परंपरा से व्यवहार किया है हमारे आचार्य जी की कल्पना नहीं किया है हमारे आचार्य जी के हाथ में चीज परंपरा से ऐसा कहने वाले कि अनादिंद गायब नित्य वेद का सिद्धांत विद्रोह के लिए हाँ यही कमी है क्या करें ये तो पहले को दूसरे छोटे लोग है तो छोटे अपना बोल के रुद्र कर रहे हैं इस बात को जानना जरूरी प्रत्येक मंत्र का आप पूरा ऋषि क्षण मेरे जानने के लिए कितने पुस्तक है पुस्तक कोई पुस्तक कोई कितनी का छुपी है पुस्तक प्रत्येक विचार का कौन देवता कौन चीज क्या है सब छुपा हुआ पुस्तक मिलता है चंद्र से कहानी सबका आ जाए दूसरे की पूरी होगी हमें इनकी पंद्रह की तीसरी और बाकी ये तो कौन खरीद है कौन पढ़ के समझने का तैयार है कौन चीज पर ध्यान करना करती है तो सब पे जल्दबाजी लगी है एक घंटे के अंदर हो जाना चाहिए रुद्राभिष में तो एक घंटे के अंदर पाठ ही नहीं बनते हो सकता है और पूरा अभिषेक छोटे छोटा पूजन सही सारा काम एक घंटे में मेरी यहाँ चुकर का तो भाई तीन घंटा से कम नहीं इसलिए है चुकर पर चार पेड़ में चार पूजा पूजा है ना चार में तीन तीन घंटे की शिविर रात नौ बजे बारह घंटे शिविरात्रि होगा पहला पॉइंट शिविर तरह से ऊपर बजे फिर शुरुआत के बाद तुरंत शुरू होना चाहिए चलना कहानी भी क्या है तो व्याधेश्वर व्याध बैठा रहता ऊपर तो सायंकाल आया सूर्यास्त के समय वो हिरण आया पानी पीने उसी समय इतना मारे गए बाढ़ उठाया तो पहली पूजा हुई पूछे कहानी के हिसाब से यदि देखोगे पहला प्रार तो पूजा कर रही समय और आप लोग बाद पहले ग्रहण की पूजा शुरू कर देंगे तो किसी दूसरे प्राण पहले ग्रहण की पूजा अगर चौथी तरह से पहले चारों तरह की पूजा हो जाना है इसीलिए न तो स्वर पाठ हो रहा है न तो उसका अंदर प्रधान है कुछ नहीं चल रहा है धंधा कलयुग में यही होता है युग धर्म हिंदू धर्म है ना लेकिन ऐसा होना ही इस जमाने का भूषण भूषण नहीं कलयुग का तो भूषण क्या तो उल्टा चलता करना बिगड़ी कैसे बिगड़ सकती नहीं मुझे विद्या देवता ज्ञान कर मुझे जिज्ञासा इसलिए ऐसा है इसलिए विज्ञान च विज्ञान चने देवता ज्ञानम कर्म ये दोनों की दोनों अब अगर हम अंतरारंभ कर विज्ञान विज्ञान चेदो भवधूसह अविद्यामृत्युर्वा विद्यामृतमश्रुति ये समुच्चय तक मंत्र है केवल कर्म के लिए उपासना करनी जाती है दूसरे मंत्र में दोनों का समुच्चय का कारण है उनका फल होना चाहिए इस बात को पुष्ट किया आचार्य परंपरा से ज्ञात है कर्म उपासना फल भिन्न भिन्न है तो दस मंत्र में अपने था और अब उसी कारण के आधार निंदा और फल भेद जो कारण बताया इन दोनों का जो फल है क्या समुच्चय वो इस मंत्र विधान विज्ञान च विज्ञान जो अधिकारी तत् अनिश्चय होता है इन दोनों को तो एक साथ ही करना चाहिए ऐसा योगी योगी सानिश्चयन इति जो सा अध्ययन करना पड़ेगा वो व्यक्ति अविद्या मृत्यु अविद्या से वो क्या करता है जो स्वाभाविक कर्म है स्वाभाविक ही प्रवृत्ति है उसको त्याग देता है जिससे पर हो पार जाता है करके क्या करेगा प्रत्युतर विद्या अमृत मुष्टि और विद्या से देवात्म भाव और देवात्म भाव रूपा ज्ञान से उपासना के माध्यम से वो अमृतत्व को प्राप्त कर है तो। उत्तरायण बार पा करके वो ब्रह्म पहुंच जाएगा कई लोग में उसको प्रमुख ज्ञान मिल जाएगा वहां से वो मुक्ति सद्य मुक्ति नहीं यहीं पर वहां जाकर क्रम मुक्ति मिल जाएगी ये लाभ है वो सुनिश्चित होना ये रुपये फल को मिलना ही यदि में तो कोई फल नहीं मिलेगा कर्म केवल कर्म करने वाले को तो केवल उपासना होता विधि विधान भी जो तो कर्म करे विधि विधान भी जो उपासना करता है केवल मिली उसको परिवर्तन बताया गया तो फल उसको मिलेगा कोई मोक्ष नहीं है वृत्ति को मालूम नहीं ये वहां पर कोई अगर ऐसा जिस भी ऐसा है पृथक फल वाला है और पृथ्वी की निंदा भी है इसी अविद्या प्रयावाचन में प्रयोग कर के लिए स्पष्ट कर देते हैं प्रकृति करने से दर्शन की प्रकृति समझ लो उसे स्वतंत्र होती है ऐसा नहीं इधर कारणम नहीं आए तो कारण है क्या नहीं अविद्या का मतलब क्या इसे अभाव मंत्रालय को आप जनाव्याकृत करके जब वेदांत शास्त्र तदाव्याकृतम देवग्रासित परिषद अनुमन इस औपनिषद शब्द प्रयोग कर दिया और न स्थान के दर्शन का कर दिया न न्याय शिक्षकों के अनुसार कारण है यहाँ न विद्या का अभाव जो है किसी से अभाव रूपा वस्तु है किंतु भावात्मक अव्याकृत नाम से जो उपनिषदों में प्रसिद्ध है उसी तत्व का दूसरा नाम अस्मृति है काम संभूति में अधिक रहा कृदाख्याम प्रकृति कारण अविद्या काम कर्म बीज भूता अखंडानंद आगे प्रश्न काम कर्म बीज क्या है आपने पूछा था एक बार जवाब दे रहे देखो काम कर्म बीज भूतान अविद्याम कारणम प्रकृति में अव्याकृदाख्याम तो अव्याकृत है प्रकृति है कारण है अविद्या है माया है जिन शब्द बोलो उसी वही क्या चीज हो काम और कर्म का बीज वो ये उपाधि अदर्शनाती क्या वास्तव में वो अदर्शनात्मिका आत्मा के अदर्शन का मूलभूत कारण होने के नाते उसको अदर्शन रूप ही कहा जो अदर्शन रूपी कार्य का कारण होने से उस कारण का नाम अदर्शन अदर्शनात्मिका ये उपासित अंधम तमो अदर्शनात्मक प्रविशंती वो उसी के अनुरूप ये जिसका पूजा जगह करे वही तो पूजा करो तो जो हिसाब कृपण अपने उपासना उसके सामने वार्ता अव्यकृत रूप में ही प्रकट होगा अव्याकृत रूप में प्रकट होगा और वही उसको दूसरे लीन हो जाता है उसी में वो आयात भाव को प्राप्त करके वो प्रकृति में लीन हो हर जीव को उत्पन्न वर्ण के बाद मरणागम कारण से व्यक्ति को अगला जो शरीर में है प्रचलन दिखाई कुत्ता मिलना हो बिल्ली मिलना हो जो भी मिलना हो वो चीज वहां पर आपको दिखाई तो समझ में आप बोलते सुन रहे हो सबसे लास्ट सुन रहे हो मुझे दिखाई दे रहा है पहले तो ये होता है दिखाई दे रहा है सारे इंडियन मुझे सबसे पहले ये बनी ये ये सब दिखाई दे रहा है मैं उसे जड़ को जानते हो कहा रखे हो स्वामी कहा बोल भी तो सकता है न दिखा सकता है उन करते ना जाते बंद हो जाती है अरे बताओ पीछे बताओ बताइए जाता है कि वो दूसरा चीज बन जाता है आदमी जो नहीं बना और पुरुष नहीं बनना मुझे दिखाई देना होता है पुरुष के साथ आदमी जैसे होता है उस शरीर से उसका पूर्ण होना चाहिए जन्म कार्य इसी को कहते हैं जन्म कार्य जो बोलते जो पहाड़ों में घूमे घूमे तो वो जो पकड़ते घास पौधे पौधे में पर रहते घूमने पकड़ते जैसे आप यहाँ से आपकी धोती लगी धोती को पकड़ लगा कुछ धीरे धीरे खून पीना

सेवा नहीं किया तब तक किसी अंदर है भले सुनाई नहीं दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा है बोलिंग नहीं पा रहा है कुछ ही नहीं है फिर भी उसको कहेंगे अभी जिंदा है ऑक्सीजन मिल गई दिन दो दिन कोई करे आ जाए वापस केवल उसका अगर असर दिखाएगा वहां चला गया तो राय इसमें जरूर का न्याय प्रश्न में आएगा आ रहे हैं प्रस्ताव में समझाएंगे किस तरह से जीव जाता है जो भी शरीर है यात्रा में शरीर उसे नर्क में जान है या भूल बन के जाना है प्रेम बन के रहना है जो भी योगी है मैं उसकी भाई देगा और उसी में उसकी पूरी प्रेम होगी ये भी उसे करेगा वही उसको मिलना है ना अपने कर्मानुसार उसकी चीज मिलनी है कुछ तो जो मिलनी होती है उसके बड़ी तो बढ़िया बनाते शुरू में गंगा घबराहट होता होगा भूत बनना होगा तो प्रेम बनता होगा तो व्यक्ति की तरफ बनता होगा फिर तो बाहर में उसको मिला नहीं आएगा मन में इसीलिए जरा निर्माण करते भगवान का मेरे को स्मरण करते राम स्मरण रहेगी मेरे स्मरण करते हुए जो छोड़ेगा मुक्ति को पाएगा तो वहां प्रार्थम क्या करेगा जहाँ भगवान का नाम चल रहा है ओम का उच्चारण हो रहा है कोई और चीज हो रही है तो गीता का पाठ श्रवण कर रहे हो तो उसके अनुरूप आपको शरीर या तो नहीं है उसके अंदर दिव्य ब्राह्मण अभी शरीर मिल जाएगा और दोबारा शरीर बनेगा और नहीं तो फिर सीधी मुक्ति हो रही है सीधी भी मुक्ति हो सकती है भी मुक्ति के अधिकारी की बात कर रहे हैं जो भी इस जन्म साधना किया अनुभव से पाया नहीं बीच में लटक गया मर गया उसकी बात यदि वो मेरे भगवान करते हुए शरीर छोड़ देता है तो उसको अन्य योगियों में जोड़ता तो है की बात नहीं सामान्य की बात कह रहे हैं जो कहा था कि तदन रूपम देव इतना रूप ही उसको मिल जाए दूसरी का अमृत मान लेता है दूसरा अमृत वो उस चीज को अपना अमृत मान लेता अरे एक बोल रहा था जब अनुरूप होता है ना मामला वो अपने अमृत मान लेते उस चीज को शुरू में आपको खटपट लगेगा एक क्या भूल से भूत होनी देख गलत है वही अपने कर्मानुसार भोगना ही है तो धीरे धीरे इसके अंदर ही दो चार दिन दो चार यहाँ से दो चार दिन में हो गया तब दो चार मिनट हो पांच मिनट के अंदर ही दिन पता कीर्तन दिन जो असंभूति उपाधि करेंगे उसका और आकृति होगी माया होगी अविद्या होगी अंधार होगा वही उसको पसंद वही उसके अनुरूप माने और उस प्रकृति के अनुरूप ही वो आदर्श आदर्शनात्मक जन्म का है उसको अस्मार्थ गुरु उससे भी जो भयंकर भूचरण जीवो है भौतर के समान है बहुत नहीं है भौतर के समान तमहा परमिशन दी कौन यह हो सम्भुज्ञान सम्भूति का कर चुके हैं पहले है ना समवरम सम्भूति था कहते कार्य ब्रह्म ही पवित्र पेश करते कार्यक्रम कौन मैंने हृदय कर सकते कार्य ब्रह्म तो सारा है ना कीट पतंग परिम स्तंभ परिम सारे का सारा कार्यक्रम है ठीक है सब ये थोड़ी कोई चीटी के बारे में करता है क्या कोई चीटी का ध्यान कर लेते क्या वो तो बड़े रहेंगे इसीलिए कह दिया विशेष रूप से भाई आपका कार्य ब्रह्म से क्या लेना हिरण गर्भाख्यो हिरण गर्भ नाम हिरण्य गर्भादियों को प्रमुख जो विशिष्ट जो देवता लोग होते हैं समष्टि का अभिमानी जो देवता लोग हैं उन असाधारण जीवन को लेना उनके लिए उपासना किया उन्हें जो विरत है तत्पर है उन्हीं का चिंतन निरंतर करता है यहाँ सब भूमिका नहीं मांग रहे क्योंकि पहले देख चुके हैं निंदा के क्या मतलब है ये सब शास्त्रार्थ पहले कर चुके हैं निंदा निंदा के लिए नहीं है या कर्म को त्याग इसको त्याग नहीं मत करो फिर ऐसी चीजों को ये अर्थ के लिए नहीं है फिर तो समुच्चय की मत है और समुचय करने के रुचिता से कैसे बता जाना हाँ, उभयोर उपासना समुचय कारण अवय फल भेदम आह समुचय कारण क्या है प्रत्येक अलग अलग बताया गया तो ये अत्यंत निराशक होता अत्यंत जो है घातक होता उनका फल क्यों बताते फल बताते ही सीधा निषेध कर देते ही निषेध करते ऐसे नहीं करके प्रत्येक कारण में जो फल का जो कथन किया है तो वही समुचे का कारण है समुचे का आधार है उसी फल भेद को क्या कथन कर रहे हैं अन्न देव आप संभवाद अन्य दाहुर संभवाद अन्य लेवा संभवा संभूति की उपासना करने से अन्य ही फल मिलता है अर्थात अपरिति का फल से ब्रह्म फल मिलता है और का और असंभव और असंभूति का जो फल उपासना करता है उसको संभूति की उपासना जो मिलने वाले फल से ब्रह्म ही फल मिलता है इस प्रकार से हमने धीरों से विद्वानों से सुना है ये जो कि नाम हम लोगों को अस्मभ्यंति फलकृत भेद को पूजित आचार्य परंपरा से अनादिकाल गुरु परंपरा से हमें कथन की है व्याख्यान की है अन्य पृथक एवं आहु अलग संभव अन्य हमने पृथक ऐसा कौन क्या कहते हैं कौन क्या है पृथक फलम भगवान स्मृति कार्यक्रम उपासना अरिमानी ऐश्वर्य लक्षण व्याख्या अरिमा गरिमा लघिमा इत्यादि जो ऐश्वर्य अष्ट सिद्धि है ना हनुमान जी का अष्ट सिद्धि मंदिर लिए जाता सब उसके पास है तो वो सारे मिल जाएंगे अलग अलग ऐश्वर्य संपन्न हो जाएगा आदमी हाँ हनुमान जी संशय भी तदरूप को प्राप्त हो जाते हैं हम्म। एक आपको और संत के पोता आपने कहीं देखा भी होगा वो संत इतना ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करते थे हम्म। तो उनको पूरा बंदर चेहरा का बंदर जब पूछ दिया गया और राम हनुमान जी उनको तो आप खत्म हो गए महात्मा जी जो नमाज का भी दिख रहा है बंदर का ही बन गए और कुछ भी है सारा हनुमान जी साक्षात बन गए और ये राम जी से पूछना पड़े मोक्ष को ही है बंदर बनना घोड़ा बनने का मतलब नहीं मोक्ष जो है ना शरीर को देखकर निर्णय नहीं होगा मोक्ष को ज्ञान कहते हैं और उनको कितना ज्ञान था कि नहीं था वो स्वरूपों तो उनकी निष्ठा थी कि नहीं थी कोई सवाल में तो, तो है नहीं हम लगा के देख लेते भाई इसकी अगर ज्ञान की निष्ठा इतनी है तो समृद्धि होगी तो नहीं होगी भाई भगवान जी पूछनी पड़ेगी उसकी भूल आपने भी यही मान के चलते हैं तो सर्वज्ञान उनके पास थी हनुमान को प्राप्त कर गई तो हनुमान जी का कोई ज्ञानी तो है नहीं हनुमान जी ने भगवान राम ने कुछ मुक्ति को कौशल का उपदेश करके पूर्ण ज्ञान प्रदान किया है इसलिए हनुमान परम ज्ञानियों में जो है इसलिए हम तो कहेंगे तो मोक्ष हो गया और आप को मैंने मन से बंदर से निकाल कर तो घटिया हो गया मैं आगे अपना विचार है इसलिए ये सब चीजें जो है व्यवस्था ज्ञान को लेकर के अज्ञान को लेकर के है बाह्य शरीर को लेकर के जो दूसरे की ज्ञानी रहे हैं लेकिन शरीर में भी रहकर के प्रभाव पर दृष्टान क्यों दिया गया शरीर बालक नहीं है ज्ञान के लिए बालक अज्ञान यदि आपने में विवेक और वैराग्य कुछ भी शरीर में क्या ही करते बाधक थोड़ी आप एक व्रत ठीक नहीं करेंगे लेकिन हमने देखा तो कैलाश आश्रम में कुछ उन्नीस सौ चौरासी पचासी वो दुख तक नहीं उसी बर्तन में आपने पानी भी डाल पानी उसको बढ़िया से धो करके चकाचक उसको पानी दो तब होती है एकादशी तो पानी नहीं पीता और एकादशी का दिन नित्य उसके नियम का एक स्थान जरूर गंगा जी और मौत में उसकी श्री चुनाई का और जब भी सवेरे आरती होती थी शाम को आरती होती है वो तो उधर से छोटा भाई का जो दरवाजा वहां के भी अपना शंकु कुमार शंकु आरती करते थे तो भगवान का अपनी आरती करता दोनों टाइम हम लोग कभी आदत पड़ जाए बुखार बहाना बना लें नहीं पहुंचे लेकिन वो कभी नागा के हम नहीं ऐसा कुत्ता कभी में छोटे मालिक जब विधान पाठ पढ़ाते थे और यहाँ से आकर के सत्संग गौर का नहीं करवाया उसके बगल में चुप कर वहां बैठ के विधान आप क्या करूंगे यहाँ कौन कर देखा देखाऊंगा शरीर बालक है उनको न पुस्तक की जरूरत पड़ी देखने बैठ के सारा समझा और भी छोटे हमारे जैसे परेकाश का से ही शरीर छोटा होता वैसा विलक्षण गया से परिपूर्ण रही थी रोषाओं को डूबा दिया तो उनके घर पीछे पीछे गया और वहां पर पड़ा उसको चोट सी लगी पैर में और खून का निकला गंगा जी हो गया और बाहर आए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शरीर हमारे लिए बाधक नहीं है बीमारी खराब है तो ध्यान होता है विघ्नंगता नीति है ऐश्वर्य लक्षण अनिवार्य ऐश्वर्य लक्षण व्यापार जो कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा उसको यही सब मिलेगा और तथा अन्यता और असंभवाद मैंने अस्मृति है अव्याकृता अव्याकृत उपासना यदि तम अंतम कार्य है प्रकृति में इसी को प्रकृति लेकर के पौराणिकों ने कहा भी पौराणिक उच्चते सुषमा वचन इस प्रकार से का वचन नाम आत्मध्यम तब वह जो प्रत्येक फल भी होने से प्रत्येक अनुष्ठान करना उचित नहीं है ऐसा उचित फलम व्यापार जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था योग सूत्र में मन आया है कितने वर्ष कौन कहाँ पर आ रहा है के श्लोक में छिप गया बहुत सुंदर वायु प्राण का श्लोक है दश मन पराणी है भौतिका तो बौद्धा दश सहस्राणी इष्टंगीरज्जरा ऊर्धम शत सहस्रो इष्टम व्यक्त पुरुषम निर्गुणम है में कि दशम नियमकारी है इंद्रिय चिंतता इंद्रिय अर्थात इंद्रिय अभिमान देवता उनकी उपासना करता है और उसी की चिंतन करने वाला जो व्यक्ति दस मनवंतर तक उस देवता के हितावासी होकर रहता है भौतिकास्तु शपम पूर्णम और जो भूत भौतिक जो वस्तु है उनके भी अभिमान देवता लोग हैं उनकी उपासना किया करता है वो एक सौ पूर्ण मनवंतर एक सौ मनवंतर पूर्ण उसी में भाव में रहेगा आदिवारी का जो अहंकार पद अभिमानी देवता रुद्रादि उनकी जो उपासना किया करता है तो एक हजार मनवंतर पर्यंत वर्धराज के साथ ऐक्यता को प्राप्त होकर पायाति को प्राप्त होगा उस लोक में यह सारी सायुज्य हो सकता है राष्ट्रीय हो सकता है सामिप्य हो सकता है सामग्री हो सकता है जितनी उसकी उपासना की इंटेंसिटी होती है जितना तीव्रता की उपासना है वह तक उसको उसके ऊपर तक रोक में जाता हो सकता है या उसके तक बिल्कुल समीप हो सकता है ज्यादा तक सकारात्मक हो सकता है एक ज्यादा शायद पैंट में बसन बन सकता है कुछ भी हो अरे भी बनते रहते शरीर छिड़ गया के समान जैसा भी रहे उसके साथ आभूषण बन जाएगा कोई जैसे गोपियों के आपकी द्वारा सुनेंगे वो कहते भाई मुझे आप कुछ भी नहीं बदले लोगे तो कोई बात नहीं मुझे अपने पैर की जो है ना जो आभूषण है उसी को ही अभी जब पाजे पैर हो उसको धाना बना दूंगा इसी रंग मिलेगा सुंदर बना लेंगे मैं तो मतलब चेतन रूप में आविर्भाव होने की योग्य नहीं हूँ इतना गंदा हूँ इतना जड़ हूँ और कौन से सोना चांदी को चीज बन के तुम्हें तो बन जाओ तुम्हारा वो बन जाए इनका कुछ भी जैसी भावना बनेगा तो इसलिए कहते हैं किस तरह से जो है और बहुत दश सहस्त्राणी बुद्धि तत्व को परिणामी देवता सरस्वती आदि की जो उपासना कर लेता है वह जो विगत जरा सुनते दश सहस्त्राणी सत्र जो है क्लेश रहित दस हजार मनवंतर तक को रहेगा और पूर्णम शत्रु अव्यक्त चिंतता अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति माया अविद्या काम कर भी जा का जो उपासना करता है वो कितना शत सहस्रम मन एक लाख मन तक प्रकृति नहीं होता और जब निर्गम निराधार विशुद्ध ब्रह्म परमेश्वर प्राप्त करता है वह काल है काल इस प्रकार का वायु परामर्श का गया प्रमाण बनता है अतव देखो है इनको न करना और इन चीजों से व्यक्त हो जाना ही ज्यादा व्यस्त है तो हमारा जो परम लक्ष्य मनुष्य को प्राप्त होकर के जो हमें इसके जीवन में प्राप्त करना है उन्हें उसके प्रयत्न करना है और मोक्ष से हम वंचित हो इसलिए ये सब निंदा होगा तो आपके अंदर इन चीजों के प्रति वैराग्य आसक्ति किसी के साथ नहीं लोगों को शिव के प्रति आसक्ति है किसको विष्णु के प्रति आसक्ति है किसको राम के प्रति आसक्ति है किसको कृष्ण के प्रति आसक्ति है आसक्ति कर रहे हैं वो भी परिचिन भाव अपरिचिन भाव मेरा अयोध्या का राम राम जी से कृष्ण गला से भाव से नहीं और राम को ब्रह्म मान करके नहीं कृष्ण को ब्रह्म मान के नहीं कर रहे हैं कपड़ता वो तो लोगों को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इसलिए इन चीजों से हटने के लिए आसक्ति रहित होकर आप उपासना किसी का भी कीजिए आप शुद्ध भ्रम नहीं करते ये आपकी बुद्धि में इतनी सख्त क्षमता नहीं थी कि आप जो है निर्गुण निराकार व्यक्ति का ध्यान करने में सक्षम नहीं है तो सगुण साकार को लेकर उपासना करेंगे लेकिन सगुण साकार में आसक्ति नहीं होना चाहिए उसे आसक्ति क्या कर उस शुद्ध ब्रह्म को इस वर्ष साकार होते हैं बिल्कुल इसीलिए बाह्य हैं फिर उसको भीतर से मानस ध्यान उसी चीज का और मानस पूजा मानस पूजा प्रत्येक देवता का मानस पूजन लिए ध्यान किया गया क्योंकि आपके आपको जी से वैराग्य पड़ेगा आपको लगेगा बारह घंटी घंटी वही सब झंझट है भाई कहा ये दीपक धुआं होगी जल बुझ है कुछ उधर कुछ परेशान कुछ बोल रोल रो मलो चमकाओ झंझट महसूस होता है तो रात देंगे मानस पूजा करना अब भाई पूजा से आपकी निवृत्ति हो रही है अब मानस पूजा करना अरे मानस पूजा में अरे क्या बैठे बैठे ये कल्पना करने के लिए मेरा समय जमाना है क्या खुशी जी का कल्पना करो रत रही वाले एकदम हाँ, कल्पना करना है, क्या क्या जाएगा क्या शिव जी मुझे जुड़ जाएगा आपको लगेगा मन की वृत्ति बेकार है इसमें कल्पना तो लगा रहे वो कल्पना अतीत में आ गई तो निर्मल क्रमश में हमको अंदर जाना अलौसिया आया भी है इसने सौ डॉलर दिया और कहते मेरे को सवारी कराओ ध्यान कराओ और सौ डॉलर में ध्यान है ऐसे चल रहे हैं जितने भी व्यापारी यही तो कर ही रहे हैं तो इसलिए हमको अभी जब जैसे हमको बुलाए देश जा रहा हूँ हमको बोला कि ध्यान कराओ हमें मना करो हम केवल थ्योरी सुनाएंगे तुम्हें उसी के बारे में मेरे से युवा मैं आकर के कहा प्राणा को क्या सीखा उनकी अकल तो है मेरे मेरा जी में कुछ हमने बाहर के उनको नहीं सिखा रहे तो उनको क्या सिखाएंगे या हिंदू भी नहीं सिखा रहे तो ईसाई मुसलमान को क्या सिखाएंगे तुम सुधरो पहले अंतर्गत कभी करो साधन बनो अच्छा बनो बात ऐसे बन जाओ तब देखा जाएंगे मुझे गलत फोटो सिखाया जाएगा उससे पहले स्टोरी सुना दो उसमें ताकि थोड़ा उसके आधार पर कम से कम उसको वैराग्य भी लगेगा थ्योरी जानेगा एक जो गद्य को समझेगा सिद्धांत को समझेगा तो सिद्धांत का अनुभव करना ही चाहिए कुछ त्याग होगा कुछ वैराग्य निष्पन्न हो जाए तब अधिकारी बने तब क्या अभी तो वर्तमान के हिसाब से तो हमें लगता कोई भाग्यशाली होगा उन्होंने ये लिखा यहाँ की योगी और योगी योग कैसे तो है आप समझो ध्यान कराए उन्हें तो कोई योगी और योगी नहीं है बाई देखोगा समझूंगा और कितनी योगी है कितनी योगी नहीं है मैं भारत में योगी योगी नहीं और भवभूमि <laughs> में मिलेंगे बहुत <laughs> उस भवभूमि में कहा तो इसलिए जो है ये सब चीजें समझ के करना पड़ता है इंद्रिय व्यापित अच्छी व्याख्यान की व्याज जो छेद कर रहे हैं वो व्याख्यान की बताइएगा जिसलिए ऐसा है प्रत्येक का मतलब फल भी है और व्यक्ति की निंदा भी है इतनी स्पष्ट निकला और कहा इसलिए व्याकृत और व्याकृत की कर्म निराकृत शिराकृत और अव्याकृत उपासना का समुच्चय करना चाहिए उसी को कहा संभूति व्याज

संहिता पाठ काल में क्या होता है एक बार जब पाठ होता है तो वहां पर अउच्चारण नहीं हो सकता है कोई का सूत्र लगेगा और पूर्व का मिलेगा इधर अवग्रह इधर पाठ वास्तव में क्या है असंभूति विनाश असंभूत भाषिका स्वयं बताएंगे इस बात को असंभूति अविनाश तो मैंने कहा असंभूति हो गया कारण विनाश माना कौन विनाश स्वभाव तो किसका होता है कार्य का इधर अविनाशम में कार्य संभूति और संभूति संभूति तद्वेदा जो व्यक्ति यह बात को जानता है उभय गुण सा कर्तव्य वेदा दोनों को समुच्चय करके एक साथ कारण में एक कर्ता के जो अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा जो जान करके अनुष्ठान करेगा वह विनाशी है कार्यक्रम की उपासना के द्वारा मृत्यु मृत्यु क्या है अनैश्वरी अधर्म इत्यादि को मृत्यु का होना उनसे परम जाता है उनकी कामना दोष से रहित हो जाता है रहित होकर असंभूतियाँ अमृत मृत्यु कारण ब्रह्म के पास लेके द्वारा वो अमरत्व को प्रकृति लय रूपा अमरत्व को प्राप्त कर जाता है प्रकृति लय अमृत स्पष्ट करेंगे देखिए माता मता समृद्धि संभूति मैंने असंभूति क्या बता संभूति शब्द क्या कर दिया असमृद्धि कर दिया उपासन संभूत संभूति उपासन तयोग एक पुरुषार्थ पर शक्ति और संभूति उपासनाओं का एक करना उचित ही है क्यों एक पुरुषार्थ दोनों के द्वारा होने वाला पुरुषार्थ का फल एक है बहुकालम ऐश्वर्य सुखानुभव का दुखानुभव अभाव रूप एक पुरुषार्थ फल दिया ये बहुकाल पर्यत ऐश्वर्यादि सुख से युक्त होकर प्रकृति अभाव से युक्त होकर विभिन्न प्रकार के देव देवता जिसे अंत तक प्रकृति लय पर्यंत को फल प्राप्त करने वाला होने से एक पुरुषार्थ रूपी का साधन होने से इन दोनों को समुचित करना उचित नहीं है सर्वभूति विनाशेन मैंने विनाशो धर्म यश कार्य सत्य धर्मिणा अभेद उच्चते विनाशी विनाश है धर्म जिसका उस कार्य को भी हमने विनाशक कर अर्थात धर्मवाचक शब्द से धर्मी को अध्ययन करता हुआ धर्मी के लिए भी धर्मवाचक शब्द ही दूर कर दिया ये कह रहे हैं तेना धर्मेणा अभिनेन उच्चते विनाश अभी कार्य प्रेम उपासना के द्वारा अनैश्वर्य धर्म का अधर्म काम आदि दोष जातम अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष को तो समूह होते उनको मृत्यु रूपी से मृत्यु रूपी दोष समूह को प्राप्त करते हिरण्य गर्भोपासन की अनिमान प्राप्ति फल क्योंकि हिरण्य से क्या होता है अनुमान ऐश्वर्य मिलेगा जो अनिश्वरी थी वो दूर हो गया ऐश्वर्य मिलेगा जो स्वयं के अंदर पाप था अधर्म था वो दूर हो गया कामनाएं थी और ये मिल जाए वो मिल जाए आपको तो जो संकल्प सब तो कुछ कर दे रहा है स्थान इस तरह से जो है वो अनिवार्य मृत्यु अतिथ्य इसे अनैश्वर्यादि मृत्यु को अतिक्रमण करके असुमृत्या अमृतम प्रकृत लक्षण अशु समृद्धि चौनाशन मूल में मंत्र समृद्धि चौनाशन ऐसा जो पाठ है वहां पर क्या है अवर्ण में निर्देश हो भाव हाँ, अवर्ण का लोभ के द्वारा इंद्रिय हुआ है ऐसा समझो एक टिप्पण का नहीं कहेंगे यदि संहिता पाठ मानोगे तो लोक मानने की जरूरत नहीं है और संहिता पाठ पक्ष में लोक छांदस माननी पड़ेगी संहिता पाठ पक्ष में तो इन पदार्थ आप काम चल जाता है फलश्रुति अनुरोधार फलश्रुति के आधार पर निर्णय करना पड़ेगा असंभूति को फलश्रुति के विराज में मृत्यु देता दिया राष्ट्रभूतियां का दिया वहां सबूति भी रहेगा राष्ट्रभूतियां लिंग कैसे निकाल होगा नहीं इसलिए आपको इस तरह से वहां अपना लोग मानना पड़ेगा तभी शब्दी जो कहा अंत में अमृतम अश्वत मतलब प्रतिदेव में फल को प्राप्त करेगा ये हो नहीं सकता कार्य ब्रह्म की जो उपासना करेंगे कैसे प्रकृति लोग करेगा कारण ब्रह्म को उपासना करने वाला प्रकृति जरूर प्राप्त इसीलिए क्या असंभूति परिचय करना अति आवश्यक है श्रुति दिया यथा कथम अस्मिन लोक पुरुषो भवती तटेत भगवती हुई श्रुते है टिप्पणकार नीचे हाँ चार नंबर टिप्पणी यथा कथम अस्मिन लोक जैसा संकल्प जैसी उपासना जैसा अनुष्ठान उसी के अनुसार जो है वह पुरुष इतना प्रेत्य इस शरीर को त्याग करके वह भगवती वही हो जाता है ऐसी श्रुति प्रमाण पक्ष के सिद्धांत वर्णन किया अरे उत्तरायण मार्ग से जाने वाला जो भी अधिकारी है क्रममुक्ति से वह प्रकृति को प्राप्त करेगा हिरण्यम को प्राप्त करेगा जिसको प्राप्त करेगा वो उसके लिए कैसे उसकी जो व्यवस्था बनेगी कैसे वो जाएगा यहाँ से वह रास्ता कैसे खुलेगा उसके लिए अभिचिंता जैसे कोई सूचना कोई और लोग आते क्या करके फोन करके बता देते बयान आ रहे हैं सारा क्या करती बिल्कुल रेडी होकर के सारा लीड वीट खोल करके खड़े रहते आओ बुलाओ तो आएंगे जय जयकार होगा स्वागत होगा वैसे ही जब साधक यहाँ से मर के जाएगा तो पहले से सूचना देना पड़ेगा ना मैं आ रहा हूं ऐसा जो मैं उपासक ऐसा जो मैं साधक उत्तरायण मार्ग में अधिकारी हूं मैं आपकी उपासना करता रहा हूं इसलिए मैं आपके पास पहुंचना चाहता हूँ आपके स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ अगर आप अगर द्वार खोल के रखेंगे हमें आने दीजिए तो प्रार्थना करेंगे मार्ग प्रशक्तता के लिए प्रार्थना है तो प्रार्थना अगला मंत्री में आएगा सत्य धर्माय दृष्टि ये सूर्य भगवान सबसे क्या और जो आदित्य मंडल में स्थित सत्य ब्रह्म ब्रह्म गर्भ कार्य ब्रह्म या पर ब्रह्म का जो मुख है सत्य से मुखम उन्हें द्वारा उस सत्य के प्राप्ति का जो द्वार है वो हिरण्यमय पात्र ढका हुआ है ज्योतिर्मय प्रकाश में रश्मियों की जब तेज तरह से तेजों में पात्र से मुकाबला पात्र नहीं आता पात्र के समान इसलिए हे भोजन कम पाप है सत्य धर्म आय दृष्ट है अस्मभ्यम प्रति तप अपाब्रम इसलिए आप मुझे सत्य धर्मा आप सत्य रूपा ब्रह्म को ही उपासना करने वाले साधक के लिए जिज्ञासु के लिए यदि सत्यात्मा से दृष्टि सत्यात्मा का दर्शन की उपलब्धि कराने के लिए तब मैंने उस ढक्कन को उस आवरण को अपावर दो उन्हें हटा दो मानुष दैव नित्य साध्यम भरम सात लक्षण प्रवृत्तलाम प्रबलतम शास्त्र के द्वारा लक्ष्यमान ज्ञाप्यमान जो फल है चाहे मानुष वित्त हो चाहे दैववित्त के द्वारा साध्य हो मानवेश्विक में कर्मकांड गौरवित में उपासना पैसों से आप क्या करेंगे कर्मकांड तो कर सकते हैं और दैवित हो गया देवता ध्यान आदि के उपासना कर्म और उपासना के द्वारा साधुता फल जो शास्त्रों के द्वारा लक्षित है वह लोग के आसपास शरीर से लेकर के शरीर का पुष्टि इंद्रियों की पुष्टि इंद्रिय का महा ब्रह्म चाह इत्यादि कर्मों का वर्णन किया तो शरीर को पुष्ट करने से लेकर प्रकृति में पर फल बताया जाए अनंत फल तो प्रकृति लगा फलम एकावती संसार गति सारा का सारा चीज क्या है संसार अंतपाती बलम संसार अंतपाती बलम प्रकृति में पर्यंत का फल भोग है तो सब संसार के भीतर ही संसार के बाहर नहीं इसीलिए चांद करके कि आपको इन चीजों से वैराग्य हो जाए जो संसार का देश में रहेगा संसार का चक्र बदलते तो प्रकृति लाभ पर्यंत फल का त्याग होना चाहिए यह हो रहा है यह लोग अमृत में ऊपर ऊपर के लोग कहने से प्रकृति लाभ पर्यंत का सकल फलों को ग्रहण करते सारे चीजों के उपभोग का कभी जो कृष्णा है उसी का नाम होगा वो सब क्या है मोक्ष में समझो और मोक्ष में सहायक भी मत समझो ये सब संसार गति और संसार का गति से जो पड़े आधा परम सबसे प्रयाम कि पूर्व में है आदि मंत्रों में आत्मभूत ज्ञान सर्वमा सर्वान भूतान आत्मभूत ज्ञान क्या जो है सर्वात्मा तो तो जो दर्शन कहा गया है वो इस संसार गति से परे की चीज हमारी मानसिक से साध्य नहीं है न दैविक से साध्य न धनिया न प्रभुया हम्म। धन से बांध के किसी तरीके से इसको आप साधनों से बाह्य साधनों से या अंतकरण के जहाँ मन की क्षमता जो है ध्यान आदि करने के साधनों से केवल ध्यान आदि साधनों से आप प्राप्त नहीं क्योंकि इसका मुख्य आधार क्या है सर्वेषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम सर्वेषणा संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा का जो फल है वो तो संसार को से परिचित तुम्हें इसको करना है तो सर्वेश का संन्यास अत्यंतांश केवल ज्ञान निष्ठा व्यर्थ केवल सर्वेश का संन्यास ही व्यर्थ सर्वेश का संन्यास पूर्व का ज्ञान निष्ठा होना चाहिए वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त परम व्यक्त बन के जो है नम धर्म होकर के गर्भी इलाकों में तपस्या कर लिया कुछ जानता नहीं दिखाई नहीं तो समाज की स्थिति पहुंच गई जड़ समाज रूप बनती कोई फर्क नहीं उसे पता ही नहीं किस चीज को मुझे अनुभव करना है लक्ष्य का पता ही स्वरूप का ज्ञान नहीं क्यों अनुभव करेंगे तेरी पूछ होकर पड़ा नहीं ये परम व्रत हो जा रहा ज्ञान वही वो भी व्यर्थ और केवल व्रत लिया वैराग्य ही नहीं तो भी बेकार बढ़िया दुकान बन कर बहुत बढ़िया बनिया में से बन जाए जो केवल रखा हुआ शब्द ज्ञान के लिए चलता है वैराग्य नहीं है ऐसी ज्ञान निष्ठा भी व्यर्थ ही रहता है इसलिए यहाँ पर विशिष्ट भाव के कथन करने भाषा सर्वेशा विषय विशिष्ट जो ज्ञान निष्ठा का एक फल है जो केवल इस प्रकार दिक प्रकार दो प्रकार का वृत्ति रूप लक्षण वेदार्थ प्रकाशना वृत्ति रूपा एक प्रकार और बाद इनका तात्पर्य को पदार्थों को यहाँ प्रकाशित कर दिया लक्षण से मेरा आदर्श और जो यहाँ संक्षेप में आपने पढ़ा है इसका विस्तार से प्रधान के परिषद प्रधान के परिषद में प्रवृत्ति लक्षण जो वेदार्थ है जो कि विधि प्रतिषेध लक्षण से पृथ्वी से प्रकाश हुई प्रवर्यांतम ब्राह्मण वहां पर जो है ना आठ अध्याय है दुर्गा में आठ अध्याय है पहले दो तो अध्याय का नाम प्रवृत्तिका दूसरे दो अध्याय का नाम मधुकांड तीसरे जो दो अध्याय का नाम भूमिकांड अंतिम जो दो अध्याय का नाम हम्म। हम्म। आठ अध्याय यहाँ तक जो कर्मकांड है यहाँ का जो उपासना है उपासना या उपनिषद इन दोनों में उपनिषद मानते हैं और इसी के अंदर भाष्य इसी के ऊपर भाष्य इस पर नहीं समझा भाष्य तो, समझाए संपूर्ण जो विधि निषेध रूपा प्रवृत्त्यात्मक जो धर्म है उसको जो है प्रयोज्ञातम ब्राह्मणम उन पदार्थों का प्रकाशन है उपयुक्तम पर्यंत का जो ब्राह्मण भाग है वह ब्राह्मण भाग प्रवृत्तियों का धर्म प्रकाशन करने में उपयोग चिंता है अर्थवान है सार्थक संपूर्ण प्रश्न से विधि विषय लक्षण से प्रवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाश में प्रणिलांतम ब्राह्मण उपयुक्त संपूर्ण विधि निषेध का प्रवृत्त्यात्मक धर्म को कथन करने वाला वेद भाग को

वेदार्थ वेद का तात्पर्य का धर्म है संन्यास धर्म उसी को प्रकाशन करने में भूमिकांड मधुकांड भूमिकांड तीनों कांड चरितार्थ हो जाते हैं हो जाते हैं अर्थवान हो जाते हैं सब प्रयोजन का कर्म कुरन विषय विद्या था अपर ब्रह्म विषय और कभी जो कर्म और उपासना का संरक्षण करके जीवन भर अनुष्ठान किया है और सरल संस्कार से युक्त हो गए निषेकादि निषेक करें गर्भाधान संस्कार निषेक कहते हैं गर्भाधान सिंचन किया मित्रा सिंचती थी निषेक हो पति अग्र पत्री के गर्भ में जो वीर का सिंचन करता है उसका नाम निषेक कर्म वह निषेक कर्म भी बड़ा विधि विधान से करना पड़ता है जो भागवत में आते ना वैसा नहीं भैंस क्योंकि भैंसा भैंस में चढ़ जाए आजकल के कल्चर जो है यही वक्त कह दी वैसा हाँ, ही यहाँ इसलिए कहते हैं निषेधारी निषेध से आरंभ करके स्मशान मैंने पेटाग्रोत उसको भी हम अग्नोत्र मानते हैं मुर्दा जलाना ऐसा नहीं कि भाई भूख दे हटा है संसार रहा है ये फट जाए दुर्गंध मारेगा इसलिए कर रहे नहीं वो भी संस्कार है शरीर का जिस शरीर में रहकर कर्म और उपासना ज्ञान आदि का अभ्यास किया हुआ है उस शरीर को संस्कार है स्मशानांत कर दिया उसको मैं गर्भाधान से लेकर नेताग्रहोत्र पर्यंत सकल संस्कार कर्म गुरुजन राधे योजना संन्यासी युक्त जन्मिष्ठा निष्ठा एवं निषेधादि स्मशानांत संस्कार से युक्त कर्मनिष्ठ संस्कार रहित कर्माधिकारी है नहीं